और वही है जिसने दो दरियाओं को इस तरह मिलाकर चलाया है कि एक मीठा है जिसे तस्कीन मिलती है और एक नमकीन है सख्त कड़वा और इन दोनों के दरमियान एक आड़ और ऐसी रुकावट हायल करती है जिसको दोनों में से कोई अबूर नहीं कर सकता